क्या तुम आसमान वाले की इस बात से बेखौफ हो बैठे हो कि वो तुम पर पत्थरों की बारिश बरसा दे फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरा डराना कैसा था